ये कान लगा लगा कर झूठी बातें सुनने वाले जी भर भर कर हराम खाने वाले हैं चुनाचे अगर ये तुम्हारे पास आए तो चाहे उनके दरमियान फैसला कर दो और चाहे उनसे मुंह मोड़ लो अगर तुम उनसे मुंह मोड़ लोगे तो ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और अगर फैसला करना हो तो इंसाफ से फैसला करो यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है